स्वर मिला करके बोलिए मेरे धुन को स्वर को सुन करके उसी के अनुरूप बोलिए ओ यात्रियों को बहुत सी बाह्य क्रियाएं प्रक्रियाएं करनी होती हैं उससे अधिक आंतरिक क्रियाएं करनी होती हैं क्योंकि आध्यात्मिक साधना मन पर केंद्रित है मन उसका अधिकरण है मन पर कार्य किए जाते हैं मन को नियंत्रित किया जाता है अपने शारीरिक दोषों को भी दूर करना है तो मन के स्तर पर काम किया जाता है शारीरिक या वाणी के दोषों को अनेक स्थूल उपायों से भी रोका जाता है जो दोष हम अकेले में कर लेते हैं वो अन्यों के सामने नहीं करते लज्जा अपयश दंड आदि के कारण किंतु साधक इतने मात्र से संतुष्ट नहीं होता वो उसे दोष को मानसिक स्तर पर हटाना चाहता है प्रारंभिक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति तो शारीरिक स्तर पर भी दोषों को नहीं हटा पाता साधक को अपने जीवन में बहुत से शारीरिक दोष दिखाई देंगे देते ही हैं बहुत से वाणी के दोष दिखाई देते हैं और मानसिक स्तर पर तो बहुत दोष दिखाई देते ही हैं ये आध्यात्मिक साधना आध्यात्मिक यात्रा अपने को पवित्र बनाने की यात्रा है अपने दोषों को दूर करने की यात्रा है उपलब्धियों में मुख्य बाधा हमारे अपने दोष हैं परमात्मा की कृपा में मुख्य बाधक हमारे अपने दोष हैं और उन्हें हमें हटाना होता है साधक भी इस बात को अनुभव करता है मुझे अपने दोष हटाने हैं अच्छी इच्छा रखता है प्रयत्न भी करता है पर बहुत से दोष फिर भी उसे चुपित तो हुए दिखाई देते हैं उसे लगने लगता है जैसे कोई उपाय कोई बता दे मुझे जिससे ये दोष हट जाए वो जिज्ञासु की तरह बहुतों से पूछता भी है साधकों से योगियों से विद्वानों से पुस्तकें भी पढ़ता है कहीं कोई उपाय मिल जाए ये दोष मेरा हट जाए और अनेक बार कोई उपलब्ध नहीं होता अथवा जो उपलब्ध हुए हैं उन्होंने जो उपाय बताए हैं फिर भी वो असफल ही अपने को पाता है बड़ी बेचैनी होती है कि दोष कैसे हटे उपाय कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो उपाय दिखते थे वो प्रयोग कर लिए हैं क्या उन दोषों को हटाने का कोई उपाय नहीं है अन्य भी तो साधक हैं योगी हैं ऋषि हुए हैं जिन्होंने इन दोषों को हटाया है साधना में दूसरों से सहायता अवश्य ली जाती देनी भी चाहिए किंतु दूसरों पर अधिक केंद्रित हो जाना साधना के लिए अच्छा नहीं होता है जैसे संसार में रहने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति बोलते हैं कि औरों पर निर्भर न हो मकान पर धन संपत्ति पर अन्य व्यक्तियों पर एक सीमा तक आवश्यकता है अधिक उन पर निर्भर होने से उनके जाने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब मैं ये जीवन जी ही नहीं सकता ये सांसारिक स्तर पर होता रहता है और जो समझदार हैं वो जानते हैं कि ये स्थिति ठीक नहीं है भले ही कोई चला जाए भले ही कोई चीज मेरे से छिन जाए जीवन तो फिर भी जीना आना चाहिए जीना ही है हमें सांसारिक विषयों में इसे समझते हुए भी आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति फिर वही भूल कर लेता है वो कुछ आश्रय बना लेता है कोई व्यक्ति कोई योगी साधक कोई ऋषि कोई पुस्तक कोई आश्रम इत्यादि जैसे संसार की वस्तुएं नश्वर हैं ऐसे ये भी तो नश्वर है ये भी तो चले जाएंगे ऐसे में साधक भयभीत होने लगता है जिनसे वो प्रेरणा लेता था जिनसे वो समस्याएं समाधान करता था बोले ये चले जाएंगे तो कौन बताएगा मुझे यदि ये पुस्तक नष्ट हो जाएगी तो मैं जीवन कैसे जीऊंगा कहा से मुझे पता लगेगा अध्यात्म मार्ग पर कैसे चलू महर्षि दयानंद की पुस्तकें किसी कारण नष्ट हो जाएं ऐसी परिस्थिति आए कि चारों वेद उपनिषद आदि भी समाप्त हो जाएं, कोई संस्था नहीं जहां योग सिखाया जा सके कोई व्यक्ति नहीं है भी तो वो भी छुप जाएंगे का डर हो प्रकट हुए तो मार देंगे ऐसे में मैं कैसे साधना करूंगा भय लगता है जैसे संसारिक व्यक्ति को भय लगता है ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति को भी भय लगने लगता है वो उसी तरह इन सहारों से राग ग्रस्त हो जाता है उन पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है उस समय वो ये भूल जाता है कि परमात्मा भी एक सहायक है जिसकी सहायता कभी छिन नहीं सकती कोई छीन नहीं सकता ईश्वर को मानते हुए भी ईश्वर की भक्ति करते हुए भी ईश्वर को पाने के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए भी अन्य साधनों पर उपलब्ध साधनों पर साधक इतना केंद्रित हो जाता है कि परमात्मा को इस विषय में उसे ये विश्वास नहीं होता कि परमात्मा भी मुझे बता सकता है उसे ये विश्वास नहीं रहता कि मैं परमात्मा से भी पूछ सकता हूं जिस परमात्मा ने ऋषियों को बनाया उनको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने की व्यवस्था की जिस परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया वो ज्ञान परमात्मा के पास अभी भी है उसे कौन छीन सकता है जिन वेदों को पढ़ करके महर्षि दयानंद ने हमारे कल्याण के लिए हमारी भाषा में व्याख्याएं की बताया वो वेद वो ज्ञान महर्षि ने जहां से प्रेरणा वो ज्ञान का आदि स्रोत आत्मा तो सदैव विद्यमान है और उस परम पुरुष ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो साधन ऋषियों को अन्यों को दिए थे उसी परमात्मा ने वैसा ही ये मानव शरीर मुझे भी तो दे रखा है वैसा ही नेत्र मेरा भी है वैसी ही नासिका मेरे पास भी है वैसी ही बुद्धि मेरे पास भी है ये उसी परमात्मा की दी हुई है अर्थात परमात्मा की महत्ता को यदि हम गहराई से समझ लेते हैं उसकी कृपा मेरे लिए भी उतनी ही है उपलब्ध है जितनी अन्य ऋषियों के लिए थी और उसने कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य कर रखी है कि कुछ भी ना हो तो भी सच्चा साधक अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ता चला जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता भले ही दुनिया में अकेला व्यक्ति हो वो सब विपरीत मानने वाले हों सब भोगवादी बन जाए तो भी उसकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए आंतरिक यात्रा के लिए कोई नहीं रोक सकता यदि शरीर नष्ट भी हो जाए फिर जन्म मिल जाएगा हमारे वही संस्कार हैं फिर उभरेंगे फिर इसी रास्ते पे चलेंगे अर्थात अन्यों से निरपेक्ष हम स्वयं भी साधना में अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं ईश्वर सहायक सदा विद्यमान है ये भावना ये आत्मविश्वास ये विचार साधक में होना आवश्यक है जब व्यक्ति अपने कुछ दोषों के बारे में सोचता है इसको तो मैं हटा नहीं पा रहा हूं किसी गुण के बारे में सोचता है कि इसको तो मैं अपना नहीं पा रहा हूं क्या उपाय होगा इधर जाएगा उधर जाएगा सब जगह जाएगा ये उसी तरह से तो हो कुछ जैसे कोई ईश्वर प्राप्ति के लिए इधर जा रहा है उधर जा रहा है उनको भी तो हम कहते हैं कि अंदर देखो ना अंदर ही है वो तो तो ये समाधान हमारे अंदर भी तो है अंदर से भी तो आ सकते हैं परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इस बुद्धि का इस चित्त का स्मृतियों का संस्कारों का उपयोग किया जाए तो उचित समाधान हम भी पा सकते हैं जो व्यक्ति आज इस बात के लिए परेशान है कि मैं इस दोष को कैसे हटाऊं जिसमें जो भी दोष हो सबको अपने दोष पता है कि ये दोष मैं हटा नहीं पा रहा हूं वर्षों के बाद भी और इस गुण को अपना नहीं पा रहा हूं वर्षों के बाद भी वो यदि ये देखे स्वयं का निरीक्षण करे अंतर यात्रा करे क्या मैंने आज तक कोई दोष नहीं हटाया है ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने अपना कोई दोष ना हटाया हो पहले दोष हो और एक भी दोष ना हटाया हो ऐसा कौन हो सकता है हम सब ने अपने किसी न किसी दोष को अनेक दोषों को हटाया है और हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कोई नया गुण न अपनाया हो पहले वो गुण हमारे में ना हो और हमने नहीं अपनाया हो हम सब ने कुछ ना कुछ गुण अपनाए हैं भिन्न दोषों को हमने हटाया है भिन्न दोष भिन्न गुणों को हमने अपनाया है अब कुछ दोष दिखाई दे रहे हैं जिनको हम हटा नहीं पा रहे हैं और कुछ गुण दिखाई दे रहे हैं जिनको हम अपना नहीं पा रहे हैं और उपाय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं साधक यदि अंतर यात्रा करके इस बात पे विचार करें कि जिन दोषों को मैंने पहले हटाया था मैं समर्थ हो पाया था वो किस तरह से हटाया था मैंने चाहे स्वयं सोच के हटाया हो या किसी ने बताया हो लेकिन वो कौन सी प्रक्रिया हुई थी जिसके आधार पर जिसके होने पर मुझे उस दुर्गुण की इच्छा भी नहीं होती उसे करने का विचार भी नहीं आता वो कौन सी प्रक्रिया थी जिसके कारण मैं कई गुणों को अपना सका कैसे अपना लिया मैंने कुछ गुणों को क्या प्रक्रिया थी वो ये अपना अपना निरीक्षण करने की बात है हर आत्मा हर साधक यदि इस पे थोड़ा कुछ दिनों तक कुछ घंटों तक गंभीरता से अनुभव कर ले विचार कर ले अंतर यात्रा के बाद ये निश्चित कर ले कि हाँ इस इस तरह से मैंने इसको हटाया था या मूलभूत ये बात थी तो उसे सूत्र पकड़ में आ जाएंगे भले ही भिन्न दुर्गुण हैं और भिन्न गुण हैं कुछ प्रक्रिया में भिन्नता होगी प्रयत्न में न्यूनाधिकता होगी लेकिन सूत्र वही रहेगा मूल बात वही रहेगी सब दुर्गुणों को दूर करने की का एक ही सूत्र है मूलतः एक ही चीज है वो जहां जहां होगा वहां वहां दुर्गुण हट जाएगा और गुण गुणों को अपनाने का भी एक ही मूल सूत्र है वो जहां जहां होगा वहां वो गुण अपना लिया जाएगा और जब तक उस नहीं है तब तक वो गुण नहीं आएगा या कम आएगा तो आज की अंतर यात्रा का ये विषय है आप सभी अपने अपने किसी एक दुर्गुण दो तीन जितना आप कर सकें उनको पहले तो सामने लाएं कि मेरे में ये दुर्गुण था और आज मेरे में ये नहीं है तो ये कैसे हटा था मेरे में मैंने क्या प्रक्रिया अपनाई थी कैसे कैसे गया था क्या कारण बने थे पहले इसके बारे में देखेंगे और दूसरे चरण में ये देखेंगे कि पहले मेरे में ये गुण नहीं था फिर मैंने ये गुण अपना लिया था और आज मेरे में ये गुण है ये आध्यात्मिक गुण है मैंने इसे अपना स्वभाव बना लिया है इसे मुझे बलात् नहीं करना पड़ता सहज हो चुका है इतना अच्छा गुण मैंने अपना लिया है इसको तो ये प्रक्रिया कैसे हुई थी मैंने कैसे किया था अभी हम 20 मिनट के लिए इस अंतर यात्रा को करेंगे प्रथम 10 मिनट में केवल दुर्गुण से संबंधित देखें और अगले 10 मिनट में अपने गुणों से संबंधित देखें आसन व्यवस्थित कर लीजिए मन को शांत और अंतर्मुखी बना लें एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं बैठ रहा हूं अपने स्वयं के लिए इस कार्य में लग रहा हूं परमात्मा से सहयोग की प्रार्थना करते हुए कार्य को प्रारंभ करेंगे किसी एक दुर्गुण को पकड़ लें उसकी विवेचना होने पर समय बचे तो दूसरे या तीसरे को भी ले सकते हैं नहीं तो एक पर ही केंद्रित रहें खूब अच्छी तरह विस्तार से धीरे धीरे समझते हुए पूरी प्रक्रिया को पकड़ें सूत्र को хочет केवल इसी कार्य में लगाना है दुर्गुण को त्यागने की मेरी यात्रा प्रक्रिया क्या थी कैसे मैं उस दुर्गुण को छोड़ने में समर्थ हो सका मन को दुर्गुण हटाने की प्रक्रिया पर ही केंद्रित रख दुर्गुण हटने की प्रक्रिया को समझें दुर्गुणों के बारे में ही कुछ देर के लिए यह सोचें जिस दुर्गुण को मैं हटा चुका हूं यदि वही दुर्गुण कोई मुझे अब देना चाहे तो मैं उसे क्यों नहीं चाहता हूं उसे क्यों नहीं अपनाना चाहिए दुर्गुण के विषय को धीरे धीरे समाप्त कीजिए आप सदगुण का विषय उठाइए जो गुण मैंने जीवन में अपना लिया है उसे मैं कैसे अपना पाया ये गुण पहले तो मेरे में नहीं था क्या प्रक्रिया रही कौन से ऐसे कारण थे कि इस गुण को मैं अपना सका किसी एक गुण अथवा दो तीन चार गुणों पर ध्यान से विचार कर सकते हैं बनाने की प्रक्रिया देखकर साथ में यह भी विचार करें क्या मैं इस गुण को अब छोड़ना चाहता हूं यदि इस गुण को मैं नहीं छोड़ना चाहता तो क्यों कुछ देर के लिए ये देखिए दुर्गुण को हटाने की प्रक्रिया में मेरा अपना कितना सहयोग था अन्यों का सहयोग कितना था इसी प्रकार गुणों को अपनाने में दूसरों का कितना सहयोग था और मेरा पुरुषार्थ कितना था इतना तो निश्चित है कि हमने दोषों को छोड़ा है और उसके लिए प्रयत्न किए गुणों को अपनाया है और उसके लिए प्रयत्न भी किए हैं उनमें हम सफल रहे हैं धीरे धीरे वो प्रक्रिया स्वयं समझ में आती है आधार पे इस विश्लेषण से अंतर यात्रा से साधक को ये पता लग जाता है ये काम ऐसे ऐसे किया जाता है कोई छोटे दुर्गुण हैं तो आसानी से चले जाते हैं शीघ्र चले जाते हैं यदि कोई बड़ा दुर्गुण है उसमें प्रयत्न ही अधिक होगा काल ही अधिक लगेगा प्रक्रिया तो वही रहेगी हो सकता है कुछ दुर्गुण ऐसे हों जो हट गए हैं उनसे संबंधित संस्कार थोड़े हों बुरे संस्कार थोड़े हों और शीघ्र सफलता मिल गई और कुछ दुर्गुण ऐसे हों जिनके प्रबल संस्कार हमने डाल रखे बचाने में प्रयत्न अधिक करना पड़ेगा बार बार उसमें हम पतित होते रहेंगे पर फिर भी प्रयत्न करते करते लंबे काल में सफलता मिलेगी लेकिन प्रक्रिया वही रहेगी मूल प्रक्रिया वही है और यही बात अच्छे गुणों को अपनाने में है जब जब आपको आगे कभी समय मिले बैठने का समय मिले अपने बारे में विचारने का समय मिले जिस दिन मन में भावना हो कि आज कुछ आंतरिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए समय निकाला जाए दिन में किसी भी समय या सप्ताह में कभी एक बार या महीने में एक बार जब भावना जगे उसमें इस प्रक्रिया को भी और अच्छी तरह समझने का प्रयास आपको सारी बातें इतनी स्पष्ट हो जाएंगी और आपको अपने पे इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि आपको कहीं और पूछने के नहीं जाना पड़ेगा और आप दूसरों के उपायों को जान के सुन करके भी उससे अधिक अच्छी तरह से दोषों के उपायों को समझ सकेंगे पहले से आपको पता होगा कि ये तो ऐसे होगा ऐसे ये गुण अपनाया जाता है कुछ समय अवश्य यात्रा में लगाएंगे यही इस तरह के कार्य होते हैं जो साधक लोग करते रहते हैं जो साधक केवल परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं अर्थ की भावना करते रहते हैं दोषों को हटाने का और गुणों को अपनाने का वो मूल उपाय नहीं है उपाय तो है अच्छा उपाय भी है लेकिन वो मूल उपाय नहीं है योग दर्शन में इसका मूल उपाय एक ही बताया है चाहे छोटे से दोष हो चाहे बड़े दोष हो संस्कार के स्तर पर भी काम करना हो तब भी एक ही सूत्र है योग दर्शन में संस्कारों को हटाने के लिए ईश्वर की सहायता नहीं ली गई है तजपस तदर्थ भावनम है उसकी अपनी उपयोगिता है बहुत बड़ी उपयोगिता है किंतु ये सारी चीजें अपने दुर्गुणों से विच्छिन्न अवस्था उत्पन्न करने की हैं दोषों को थोड़ा क्षीण करती हैं तनु करती है बस तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में जो ईश्वर प्रणिधान कहा उससे क्लेश तनु होते हैं प्रसुप्त और दग्ध बीज नहीं होते मन में बुरा विचार आया और हमने परमात्मा का स्मरण किया वो विचार वो गलत कर्म उस समय रुक जाएगा लेकिन ये उसका अंतिम उपाय नहीं है हमने अपने को केवल विच्छिन्न किया है एक स्तर से हटा के दूसरी तरफ मन को ले गए हैं वो जो दुर्गुण था उसकी चिकित्सा नहीं की है अभी शल्य क्रिया नहीं की है ज्ञान से उसको दग्ध नहीं किया है केवल दूसरी तरफ अपने को मोड़ लिया है जैसे किसी को देख करके यदि मेरे को गुस्सा आता हो तो उसके आने पर मैं दूसरे कमरे में चला जाऊं या और कहीं चला जाऊं तो गुस्से से बच जाऊंगा लेकिन ये दूसरी जगह जाना गुस्से को दूर करने का मूल उपाय नहीं है उस समय बच जाएंगे लेकिन फिर कभी वैसा आलम आएगा तो फिर गुस्सा आ सकता है ये विच्छिन्न दशा कहलाती है प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार और पांचवी दग्ध बीज अवस्था अपने को विच्छिन्न दशा में रख करके इस आत्मसंतुष्टि में मत चले जाना कि मेरे में ये दोष समाप्त हो गया है उस दोष का सामना करना पड़ेगा उसको ज्ञान पूर्वक दग्ध करना पड़ेगा उस दोष के दोष की हानियों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा अनुभव में लाना पड़ेगा इससे ये हानि है जिस चीज की हानि हम समझ लेते हैं वो बिल्कुल छूट जाती है एक ही मात्र उपाय है जितने भी दुर्गुण हमने छोड़े हैं उसमें आपको एक ही सूत्र मिलेगा जिसकी हानि समझ में आई वो छूट जाएगा आत्मा कोई भी आत्मा अपनी हानि नहीं चाहता यदि हम हानि देख रहे हैं फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं तो अभी कमी है और हानि देखनी है और अनुभव करना है कर लीजिए प्रयोग उसका और और जागरूकता से अनुभव कर लीजिए इसी प्रकार से सदगुण अपनाने हैं तो जो जो भी सदगुण हमने अपनाए हैं ये सूत्र आपको मिलेगा बार बार और परीक्षण कर लें उसमें लाभ दिखेगा तो हम अपनाएंगे ऐसा हो नहीं सकता कि लाभ दिख रहे हों और हम ना अपनाएं असंभव है आत्मा का स्वभाव है ये हानिकारक को छोड़ देना और लाभदायक को अपना लेना ज्ञान में जिस दिन परिवर्तन हो जाएगा जिस दुर्गुण को हमने पहले अपना रखा था तब हमारा ज्ञान उसमें लाभ देख रहा था कुछ ना कुछ और जिस दिन ज्ञान ने पलटा खाया कि ये तो हानिकारक चीज है छूट जाएगा वो केवल ज्ञान के स्तर पे हानि लाभ बदला है ऐसा ही सदगुणों के बारे में है जिस दिन हमें उसके लाभ नहीं दिखाई दे रहे हैं हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्यों कष्ट किया इसको लेके क्यों अपनाया और जिस दिन ज्ञान ने ये पलटा खा लिया समझ बन गई अनुभव बन गया कि ये आवश्यक है इसके ये लाभ है उस दिन कोई हमसे छीने तो हम नहीं उसको छोड़ेंगे अपना के रखेंगे इसे योग दर्शन में प्रतिपक्ष भावना ये एक मूल बात कही अंतिम संस्कार भी दग्धबीज करने हैं दोष हटाने हैं तो प्रतिपक्ष भावना से ही जाएंगे एकमात्र उपाय है सबसे मूल उपाय जड़ से उखाड़ने वाला उपाय ये ज्ञान से समझ से दोषों को दग्ध करना है बाकी उपाय तात्कालिक होते हैं स्थूल होते हैं प्रारंभ में आवश्यक होते हैं उनको भी किया जा सकता है लेकिन इस प्रक्रिया को भी हमें पकड़ना होगा और ये हमने पकड़ लिया तो हमारा आध्यात्मिक मार्ग पूर्णतः सफल होगा निष्कंटक होगा निर्बाध होगा हर समस्या का समाधान हमारे अपने पास होगा हम पराश्रित नहीं होंगे और ये भय नहीं सताएगा कि ये नहीं होंगे तो मैं कैसे साधना को करूंगा प्रणाम ओ नीचे रखते हुए अंत स्थिति बनाए रखते हुए आगे के कार्य के लिए प्रस्थान करेंगे ओम